जब वो लोग यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर विक्रांत के साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स अभी विक्रांत से लड़ रहा था उन लोगों के आने के बाद अचानक से रेस्टोरेंट के भीतर भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी उसने ही मेरे ऊपर चेयर फेंक कर मारा था लेकिन एक आदमी ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा उसके एक्सप्रेशन को देखकर वहां पर मौजूद बाकी लोग काफी असमंजस की स्थिति में आ गए थे इस वक्त उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मुट्ठी विक्रांत के चेहरे से लगी हुई थी वो एक के बाद एक करके कई सारे पंच विक्रांत के मुंह पर मारे जा रहा था विक्रांत उससे खुद को बचाने के लिए अपना दोनों हाथ चेहरे के सामने रखे हुए था लेकिन फिर भी उस अधेड़ का पंच इतना जोरदार था कि विक्रांत उसे संभाल नहीं पा रहा था हर पंच पड़ने के बाद उसका कदम पीछे हुआ जा रहा था मार साले को तभी वहां पर मौजूद एक शख्स ने जोर से हंसते हुए कहा उसने भी विक्रांत के ऊपर अटैक करने के लिए अपने हाथ में लोहे का एक रॉड उठा लिया और उसने भी पीछे की तरफ से विक्रांत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया फिर विक्रांत भी पीछे मुड़कर उस आदमी के चेहरे पर एक के बाद एक पंच जड़ने लगा विक्रांत भी अपनी तरफ से उसको भरपूर जवाब दे रहा था उसने उस शख्स को उठाकर पीछे कांच के दरवाजे पर पटक दिया जिससे कांच टूटकर वहां पर बिखर पड़ा आ विक्रांत का ये उग्र रूप देखकर तो वहां पर मौजूद बाकी के लोग भी बिल्कुल भयभीत हो उठे किसी ने सोचा भी नहीं था कि विक्रांत अचानक से इतनी स्ट्रेंथ दिखा सकता है भले ही उन लोगों के हाथ में रॉड और डंडे पड़े हुए थे लेकिन फिर भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर विक्रांत का सामना कर सके सारे तेरी तो जब उस अधेड़ उम्र के शख्स ने विक्रांत को इस तरह उस आदमी को पीटते हुए देखा तो फिर वो बड़ी फुर्ती के साथ फिर से विक्रांत के ऊपर अटैक करने के लिए झपट पड़ा इस वक्त वो अधेड़ आदमी अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर पंच जड़ने लगा लेकिन थोड़ी ही देर में विक्रांत का चेहरा उसका सीना और उसके कंधों पर काफी भारी भरकम पंच पड़ने शुरू हो गए थे विक्रांत अब पूरी तरह से पागल हो चुका था उसके लिए इन लोगों से भिड़ना अब काफी मुश्किल साबित होता जा रहा था ऐसे में उसने तेजी से भागते हुए उस शख्स को अपने हाथों के बीच दबोच लिया और फिर उसको एक टेबल के ऊपर ले जाकर पटक दिया एक झटके में टेबल टूटकर जमीन पर आ गिरा उसके साथ ही वो आदमी भी जमीन पर धराशायी हो उठा फिर विक्रांत ने जल्दी से भागते हुए दूसरे अधेड़ उम्र वाले शख्स को भी दबोच लिया इसके बाद उसने बिना कुछ देखे समझे अपनी पूरी ताकत से उस अधेड़ उम्र के चेहरे पर एक के बाद एक करके कई सारे पंच जड़ना शुरू कर दिए अभी विक्रांत उसे मार ही रहा था कि अचानक से उसने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया और फिर उसने भी उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार पंच जड़ दिया पहले तो विक्रांत को ऐसा लग रहा था कि वो नैना द्वारा सिखाई गई ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से इस आदमी को हरा सकता है लेकिन अब जाकर उसे विश्वास हो रहा था कि वो गलत था ऐसा इसलिए था क्योंकि उस अधेड़ उम्र वाले शख्स की फाइटिंग स्किल विक्रांत की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी थी विक्रांत उससे भिड़ने के लिए जितनी नई तरकीब लेकर आ रहा था वो शख्स उससे एक कदम आगे निकलकर विक्रांत को जवाब दिए जा रहा था उसने मौका पाते ही विक्रांत के दाएं हाथ को जकड़ लिया और फिर उसकी बॉडी को अपनी टांगों के बीच में फंसाते हुए इस तरह से लॉक कर दिया कि अब वो भी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था वाह भीड़ में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा थोड़ी देर में रेस्टोरेंट का लॉबी एरिया बॉक्सिंग रिंग बन चुका था जहां पर विक्रांत और वो शख्स आपस में लड़ रहे थे जबकि बाकी के लोग तमाशा देखते हुए सीटी बजाए जा रहे थे वैसे यहाँ पर मौजूद ज्यादा लोग विक्रांत के विरोध में ही थे वो सब लोग विक्रांत को पिटते हुए देखकर खुश हो रहे थे नहीं विक्रांत को इस तरह से पिटता हुआ देखकर हर्षित भी काफी परेशान और हताश नजर आ रहा था हालांकि हर्ष इस वक्त विक्रांत की मदद करने के लिए आतुर नजर आ रहा था वो विक्रांत को सलाह देते हुए कह रहा था सर उसे ऊपर ऊपर खींचिए इधर इधर इस तरफ इस तरह मारिए हर्ष की सलाह सुनने के बाद भी विक्रांत के लिए उस अधेड़ उम्र का सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा था वो अपने पूरे स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस अधेड़ शख्स को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन किसी भी हालत में उसके लिए ये सब करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था इसके बाद उस अधेड़ शख्स ने विक्रांत का दाहिना हाथ पीछे खींच कर चिल्लाना शुरू कर दिया तुम अब ख़त्म अब ख़त्म सरेंडर कर दो हार मान लो वरना आज तुम्हारा ये हाथ गया ये हाथ गया इतना कहते हुए उसने विक्रांत का कंधा पकड़कर नीचे झुका दिया विक्रांत अपना दांत पीसते हुए पूरी ताकत लगाते हुए खुद को उसके पकड़ से आजाद करने की कोशिश में लग गया अच्छा अब साले तुझे समझ में आएगा कि सड़क छाप गुंडों का क्या हाल होता है अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति ने विक्रांत को बिल्कुल चित करते हुए कहा मैं बोल रहा हूँ ना कि माफ़ी मांगने में कभी देरी नहीं होती है <laughs> अचानक से विक्रांत ने जोर से हंसते हुए कहा चुप कर साले तेरे जैसों से तो मेरा जूता भी माफ़ी ना मांगे अब तो उस आदमी ने तुरंत ही विक्रांत का दूसरा हाथ पकड़कर उसे भी ब्लॉक कर दिया हालांकि इसी बीच विक्रांत ने मौका पाकर अपने दूसरे हाथ को छुड़ा लिया और फिर जोर से उसके मुंह पर एक पंच जड़ दिया इसके बाद विक्रांत ने उस अधेड़ उम्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए उसे दूसरी तरफ पलट दिया विक्रांत के हाथ से इतना जोरदार थप्पड़ पड़ता देख वहाँ मौजूद सभी लोग बिल्कुल तंग रह गए दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही उस अधेड़ शख्स ने विक्रांत के दाहिने हाथ पर जैसा अटैक किया था उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो अब उसका हाथ दोबारा उठ ही नहीं सकेगा लेकिन फिर भी विक्रांत ने जोरदार थप्पड़ लगाने के साथ एक बार फिर से इस बाजी को अपनी तरफ पलट दिया था दरअसल विक्रांत ने यह कमाल अदृश्य शक्ति की ताकत की वजह से किया था उसने तुरंत ही अदृश्य बोन सेटिंग डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया था इस डिवाइस का इस्तेमाल करने के बाद उसके दाहिने हाथ में लगा चोट एक पल में ठीक हो गया उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया था जिसका प्रमाण उसने तुरंत ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए दे डाला था आह उस अधेड़ व्यक्ति की फिर से दर्द के मारे चीख निकल पड़ी वहीं वहां पर मौजूद लोग अब काफी ज्यादा रोमांचित हो उठे उनके लिए ये तो सब किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था यहाँ तक कि हर्ष और हर्षित भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़े होकर इस रोमांचक लड़ाई का आनंद उठा रहे थे उधर उस अधेड़ का चेहरा अब थप्पड़ पड़ने के बाद शर्म के मारे लाल हो चुका था उसने काफ़ी तेज़ आवाज़ से चिल्लाते हुए अपनी मुट्ठी बांध ली और फिर उसके बाद वो विक्रांत की तरफ तेज़ी से दौड़ पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था ऐसे में वो अपना होश खो बैठा था उसके होश खोने का फ़ायदा इस फाइट में विक्रांत को ही हो रहा था क्योंकि गुस्से के कारण उसे जहाँ जैसा मौका मिल रहा था वो विक्रांत के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे विक्रांत को कुछ नुकसान नहीं हो रहा था बल्कि विक्रांत अब उसकी हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर और घातक हमले किए जा रहा था पहले तो विक्रांत जल्दी से उठ खड़ा हुआ और फिर उसने उस शख्स के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा उसके अगले ही पल उसने अपने सिर से उस अधेड़ की छाती में प्रहार करते हुए उसे पीछे पड़े टेबल पर धकेल दिया टेबल के गिरने के साथ ही वो अधेड़ भी जमीन पर धड़ाम हो गया जिससे एक बार फिर से उसकी चेख निकल पड़ी लेकिन विक्रांत अब उसे एक भी मौका नहीं देना चाहता था उसने दौड़ते हुए उस शख्स का कॉलर पकड़ लिया और फिर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए शायद उसकी नाक तोड़ डाली उसके नाक से खून बहना शुरू हो गया अब ये मंजर थोड़ा भयानक होता जा रहा था वहाँ मौजूद सभी के सभी लोग तंग होकर ये सब देख रहे थे लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर उन दोनों की लड़ाई को रोक सके यहाँ तक कि जो लोग विक्रांत से बदला लेने के लिए यहाँ पर अपने हाथों में डंडे और रॉड लेकर खड़े थे उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विक्रांत के सामने आकर उससे भिड़ने की कोशिश करें